यदि लौट यहाँ आते हम सब सीता माँ के सुध लिए बिना हाँ सीता माता के सुध लिए बिना तो प्राण दंड देते सुकंठ तो प्राण दंड देते सुकंठ होते न शांत यह किए बिना होते न शांत यह किए बिना कारण वे प्रथम कह चुके थे असफल होकर यदि आवोगे हाँ असफल होकर यदि आवोगे तो पहले से कह रखता हूँ सब दंड मृत्यु का पाओगे सब दंड मृत्यु का पाओगे इसे दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान कहा नील ने हमी पर किया नहीं उपकार है सुकंठ भी मानते इनका यह आभार कपिपति को रघुपति से यदि यह अवसर पर नहीं मिला देते तो बलिराज कब का इसको सीधा यमलोक पठा देते इस कारण मैं यह कहता हूँ सब दुखे जनों के त्राता है कपियों के जीवन दाता है कपिपति के जीवन दाता है जाम्बुवान भोले तनिक इस पर भी दो ध्यान उस अशोक वाटिका में बढ़े और हनुमान यदि ठीक समय पर तरवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ तो उन बेदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहाँ अतएव सिद्ध हो जाता है संकट मोचन यह अद्भुत है कपि क्या कपिपत क्या सीता के जीवन दाता मारुत सुत है अंगद बोले किया है प्रभु तक का कल्याण यह कहना तो धृष्टता दिए उन्हें भी प्राण पर इतना तो कह देंगे हम उनका भी कार्य संभाला है सीता के सुधला कर उनके जीवन में जीवन डाला है निश्चय ही इनमें निज बल है फिर राम कृपा का भी बल है कर्तव्य परायण है मारुति करनी करने का कौशल है कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन की है खंग के धार कर्तव्य पालन अपने अपने स्वार्थ में रत है सब अत्यंत परहित संकट सहे जो वही तो है सन सफल जन्म का सार कर्तव्य पालन कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन अनुभव करता है इसे यात्रे ही भरपूर पग पग जो जो आगे बढ़ा पग जो जो आगे बढ़ा प्रियतम त्यो तो दूर माता लगातार कर्तव्य पालन कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन की है खंग की धार कर्तव्य पालन सोच समझ दृढ़ता सहित बढ़ता जो बलवान प्रभु का प्यारा है वही नेता वही महान प्रभु का प्यारा है वही नेता वही महान महामोक्ष का द्वार कर्तव्य पालन कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन की है खग के धार की है खंग के धार कर्तव्य पालन कठिन है बहुत यार कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन कठिन है बहुत यार कर्तव्य पालन प्रातः काल सुग्रीव से बोले रघुकुलनाथ रण तो अब अनिवार्य है निश्चर गण के साथ हम आर्य देश के वासी हैं हम आर्य देश के वासी हैं निज प्रण पूरा करना होगा हाँ निज प्रण पूरा करना होगा सीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा हम आर्य देश के वासी हैं निज प्रण पूरा करना होगा शीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा हे बलवीरो हे रणवीरो पग आगे ही धरना होगा सत्यता नाय दादा पर कटना होगा मरना होगा हे बलवीरों हे रणवीरों पग आगे हे धरना होगा सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा रामाज्ञा सुन चतुर्दिशा गरज उठे बलवंत एकत्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनंत है बात न यहाँ करोड़ों के गिनते अरबों खरबों की है लहरावल से टिड्डे दल से सेना भालो बानरों की है हाँ सेना भालो बानरों की है ते अति प्रचंड दुर्दंड सुवट जेवट वाले जिरदार सभी गंभीर सभी रणधीर सभी बलवीर भूधराकार सभी किलकार मार कर किसक कटक सागर के तट पर जाता था आकाश धूल धूसरित हुआ दिन करण दृष्टि में आता था मुखरित हो उठा मेदनी तल खल दल में खलबल हलचल है जयकार विश्व में गूंज गया हर सायमान सुर मंडल है घर में आ जाए एक बानर तो घर वाले घबराते हैं लंका में कैसे बोत बीतेगी जब इतने बढ़कर जाते हैं घर में आ जाए एक बानर तो घर वाले घबराते हैं लंका में कैसी बीतेगी जब इतने बढ़कर जाते हैं कपिदल जा ठहरा सागर तट पर कपिदल जा ठहरा सागर तट पर सागर समझ से का विस्तार कपिदल क्या ठहरा सागर तट पर सागर सम जिसका विस्तार कपिदल जाठहरा सागर तट पर शकुन हुए सीता माता के शकुन हुए सीता माता के असुगुण गुण लंका के राजा को शंका थे राक्षस सेना को शंका थे राक्षस सेना को सुन सुन कर हूंकार शाखा मृग थे शाखाओं पर धरणी पर स्त्री धरणी धर शाखा मृग में शाखा मृग थे शाखाओं पर धरणी पर श्री धरणी धर राधे श्याम न स्वामी ऐसे राधे श्याम न स्वामी ऐसे देखे कहीं उदार कपिदल जा ठहरा सागर तट पर सागम सम जिसका विस्तार सागर सम जिसका विस्तार कपिदल जा ठहरा सागर तट पर सागर सम जिसका विस्तार राधे श्याम कृष्ण स्वामी ऐसे देखे कहीं उदार राधे श्याम स्वामी ऐसे देखे कहीं उदार कपिदल जा ठहरा सागर तट पर सागर सम जिसका विस्तार सागर समझ का विस्तार सागर समझ का विस्तार